तो वो कहते थे अर्थ जो है अर्थ का वर्ग है क्या गरुड़ वर्ग और धर्म का वर्ग है सर्प वर्ग तो गरुड़ तो सर्प को खा जाता है तो धर्म का तो गरुड़ वर्ग है अर्थ का है गरुड़ वर्ग और धर्म का है सर्प वर्ग तो गरुड़ सर्प को जैसे खा लेता है ऐसे अर्थ का जो लोभ है वो धर्म को खा लेता अच्छा जिसको अर्थ का लोभ है जो लोभी व्यक्ति है वो धर्म को कहां देखता है अखबारों में निकलता है अभी कहते हैं कि घी में सुअर की चर्बी मिला मिला के बेच रहे हैं लाला लोग वो ये भी नहीं देखते कि दूसरों के धर्म को बिगाड़ते हैं अर्थ के लोग अपना धर्म तो कोई ही रहे हैं दूसरे के धर्मों को भी नष्ट कर रहे तो अर्थ का लोभी धर्म को नहीं देखते जैसे गण और सर्प को खा जाते हैं ऐसे अर्थ जो है धर्म को नहीं परखने देता काम का वर्ग है बिलाव वर्ग तो मोक्ष का है मूसक वर्ग तो मूसा जैसे मूसे मूसा बिलाव के सामने क्या करेगा बिल्ली के सामने मूसा क्या करेगा तो काम बिलाव के समान है बिल्ली के समान है और मोक्ष का वर्ग है मूसक वर्ग है तो किसी तरह से सकती मोक्ष की ओर प्राण को नहीं बढ़ने देती सकती अर्थ का लोभी धर्म का आचरण नहीं कर सकता धर्म की रक्षा नहीं कर सकता और कामाशक्त विषयासक्त प्राणी मोक्ष की ओर नहीं जा सकता इसलिए अर्थ के लोभ को छोड़ करके जो धर्म की रक्षा कर लेता है तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि इसने गरुड़ के मुख में से सर्प को सुन लिया तो इस तरह से ये आपस में परस्पर विरोधी हैं अब धर्म का विरोधी है अर्थ और मोक्ष का विरोधी है कामाशक्ति विषयाशक्ति तस्माद एक मनसा भगवान सात्वकांपति पति श्रोतव्य पीतव्य ध्येय नित्य का इसलिए अनन्य मनस्क होकर के एकाग्र मन से भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए श्रोतव्य भगवान की मंगलमयी कथाओं को कानों से सुनना चाहिए और उनके मधुर मनोहर मंगलमय मंगलमय नामों का जीववा से कीर्तन करना चाहिए भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए उनका पूजन करना चाहिए भगवान की ध्यान रूपी तलवार से कर्मों की ग्रंथि काट दी जाती है फिर भगवान की कथा में किसको रुचि नहीं होगी यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिंदन के कोविदास्त कौन कुरिया कथा रतिम भगवान की भगवान का ध्यान क्या है ये तीक्ष्ण तलवार है ये क्या करती है कर्मों की ग्रंथि को काट देती है ग्रंथ निबंधनम कर्म सिंदंती जो हम कर्म गांठ में बांध के लाए हैं उस तो कर्म ग्रंथि को काट देती है आप इस तरह से समझिए जैसे कोई पुरुष स्वचन संचित धने से पृथक कृत्य क्वचित एक दिन भोग्यम धनम ग्रंथो निबदना कोई व्यक्ति जैसे अपनी सेठ जी तो गए गुजरात की यात्रा कर कोई कश्मीर जाए बंबई जाए तो अपने संचित धन में से अपने साथ कुछ ले जाता है ना अपनी गांठ में बांध के साथ में ले जाएगा और जितना धन ले जाएगा उसी रीति से वहां जिसके पास ज्यादा पैसा है वो होटल में ठहरेगा अब अच्छी जगह ठहरेगा जिसके पास पैसा कम है वो बेचारा धर्मशाला में ठहर जाएगा बद्रीनारायण की यात्रा करने वाले या पूर्व के लोगों को देखते हैं अपनी कोठरी से करते हैं थोड़ा थोड़ा कहीं ठहर गए वो सबको तो निकाल खाई लिए तो जिसके पास जैसा संचय है जैसी गांठ में बांध करके चला उसी का तो उपयोग करेगा ऐसे ही ये जीव जब संसार में आता है तो भगवान कहते हैं कि बच्चों अब तुम जा रहे हो संसार में तो कुछ अपने कर्मों को तो गांठ में बांध के ले जाओ इन्हीं के द्वारा तो तुम्हें मिलेगा वहां जो कुछ मिलेगा तो उसके संचित कर्मों में से भगवान उसकी गांठ में कुछ कर्मों को बांध देते हैं उसी को कहते हैं कर्म ग्रंथि उसी को कहते हैं भाग्य उसी को कहते हैं प्रारब्ध हम सभी लोग अपनी अपनी गांठ में कुछ कर्मों को बांध के लाए उसका नाम कर्म ग्रंथि है और फिर उसको वो करते हैं यहां से फिर और कर्म को बांध के ले जाते हैं ये कर्म की गांठ कट नहीं पाती कैसे कटेगी कि भगवान की ध्यान रूपी तलवार से यदन अभ्यास नायुक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिंदन कोविदास तो तस्य कोल कुरिया तथा जिन भगवान की ध्यान रूपी तलवार से कर्मों की ग्रंथि काटती की जाती है उनकी कथा में किसकी रुचि नहीं होती वासुदेव कथा रुचि जब कोई तीर्थों में पहले जाता है वहां महापुरुषों का दर्शन होता है उनके मुख से कुछ सुनता है तो भगवान की कथाओं में उसकी रुचि हो जाती है श्रृणताम स्वकथाम कृष्ण आप केवल शांत होकर के बैठ जाओ भगवान की कथा सुनो अच्छा सुनने में क्या परिश्रम कहने वाले को तो कुछ श्रम भी होता है तो सुनने वाले को तो कोई श्रम ही नहीं और फिर सुनने वालों के हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं यहां ये नहीं कहा कहने वाले के हृदय में बैठता है शृणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जो भगवान की कथा सुनते हैं प्रेम से भगवान उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और उनके हृदय में जो दुर्वासनाएं उनको नष्ट कर देते हैं उनका हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाता है उन भगवान का प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो जाता है रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोधाधिक नष्ट हो जाते हैं उनका चित्त शुद्ध हो जाता है भगवान के स्वरूप का ज्ञान उदय हो जाता है हृदय में और वैराग्य का उदय हो जाता है उनके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है संशय उनके निवृत्त हो जाते हैं अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करके बोलिए श्री कृष्ण भगवान तो इसलिए जो अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुरवं आत्म प्रसाद इसलिए भगवान की भक्ति जो है ये जीव को प्रतिकृत करने वाली और सात और रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं एक ही परमात्मा इन तीनों गुणों को धारण करके उनके तीन नाम हो जाते हैं भगवान विष्णु बन गए शिव बन गए ब्रह्मा बन गए ये संपूर्ण शास्त्र भगवान वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तप वासुदेव परम धर्मो वासुदेव पर वासुदेव परागति भगवान अपनी माया के द्वारा और इस जगत की रचना करते हैं जैसे अग्नि काष्ठ में अनेक प्रकार से मान जैसे काष्ठ का रूप होगा अग्नि तो व्यापक होकर के उसी रूप में वो प्रतीत होगी नानेर भाती विश्वात्मा भूतेषु तथात्मा सूर्य जी कहते हैं ऋषियों भगवान ने सबसे पहले सृष्टि के आद में महातत्व अहंकार पंचतन मात्रा इससे उत्पन्न हुआ एक तो पुरुष रूप को ग्रहण किया जिसमें ग्यारह इंद्रिय और पंच महाभूत सोलह जिसमें कला मानी जाती है ये कारण जन्म में शयन करते हुए भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए ये भगवान का जो है पुरुषार्थ सैव भगवान सनकाद रूपम कौमारम सर्वमाश्रित उन्हीं भगवान ने सनकादिक के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके बताया ब्रह्मचर्य व्रतम चचारा भगवान ने पहले शंकादि के रूप में प्रकट होकर के ये बताया कि व्यक्ति चाहे तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करके रह सकता है संकादिक महर्षि जो हैं वो निवृत्ति मार्ग के का हमको उपदेश करते हैं तो सब प्रथमावतार ये भगवान का एक प्रथमावतार है शुक्रावतार भगवान का वो दूसरा अवतार है रसातल गई पृथ्वी को जिन्होंने उपकार किया ये आगे कथा आएगी भगवान का नारद के रूप में भगवान का ये तीसरा अवतार माना जाता है और नर और नारायण का ये भगवान का चौथा अवतार है उसमें उन्होंने बद्री नारायण में जाकर के बड़ा दुष्चर तप किया पंचमे कपिलो गुप्ता भगवान का पांचवा अवतार है कपिल जी का आसुरी नाम के ब्राह्मण के लिए सांख्य शास्त्र का उल्लेख किया और ये छठा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय उन्होंने अलर्ट के लिए आत्मविद्या का उपदेश किया मार्कंडे पुराण में कथा प्रसिद्ध है सातवा जो है भगवान का यज्ञावतार माना जाता है और ऋषभदेव का अवतार ये आठवा अवतार है उसमें परमहंसों को का रहनी सहनी कैसी होती है ये बात बताई और ऋषियों की याचना करने पर ये प्रसु के रूप में भगवान प्रकट हुए ये नौवा अवतार मत्स्यावतार भगवान का दसवा अवतार माना जाता है और पूर्वावतार भगवान का ये एकादश ग्यारहवा अवतार मंद्राचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर लिया बारहवा भगवान का धन्वंतरी का आयुर्वेद को उन्होंने प्रकाशित किया त्रयोदश मोहनी का रूप धारण कर लिया भगवान का प्रेरण हो अवतार असुरों को वंचित कर दिया चौदह मां भगवान का नृसिंह अवतार है अपने नाखूनों से ही हिरण कष्ट हुआ वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला था मां भगवान का ये वामन अवतार है तीन पग पृथ्वी के बहाने से संपूर्ण राज्य उसका छीन लिया और सोलह माह परशुराम जी का अवतार है सत्रहवा व्यास जी का अवतार है अठारहवा भगवान राम का अवतार है समुद्र का पुल बनाया और उन्नीस और बीस माह यद कुल में राम और कृष्ण के रूप में अवती हुए एक दिन से संप्रवृत्त से दैत्य में बना और जो है ये बुद्ध के नाम से दैत्यों को मोहित करने के लिए गया प्रदेश में उनका अवतार होगा और 22 माह जब चौरस प्राय राज, राजा लोग हो जाएंगे तो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कलकी के रूप में भगवान अवतीर्ण अवतार ग्रहण करेंगे संभल नाम का जो गांव है उसमें भगवान के तो अनेक अवतार हैं कहां गिनाया जाए एक एक चांस कला पुंसा कृष्णस्थ भगवान स्वयं और अनुसार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो साक्षात पूर्ण अवतार माना जाता है एक रूपम भगवतो ये रूप सचिदात्मन माया गुण विरचितम महदादिव्यात्मन यथा नभस मेघो रेणुर्वा पार्थिवो निर एवं दृष्ट दृश्यत्म आरोप बुद्धि रेणुर्वा पार्थिवो निरे एवं दृष्ट दृश्यत्म आरोप कहते ये स्थूल और सूक्ष्म जगत भगवान ने ये दृष्टा में ये दृष्ट केवल माया से आरोपित हुआ है यत्रे में सदसद रूपे प्रतिषिद्धे संविधा अपने आत्मज्ञान के द्वारा जब इन दोनों का निषेध कर दिया जाता है अविद्या आत्मनिकृत इसे तद ब्रह्म दर्शन तो उसका अपने ब्रह्म रूप अपनी आत्मा का उसका साक्षात्कार यद्देशोपरता देवी माया मती संपन्न वेद विदुर महिम निश्चय ये माया जिस समय उपरत हो जाती है उस समय आत्मदेव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं सूजी कहते हैं ऋषियों आप लोग धन्य हैं कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में है भगवान की भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो ये प्राणी ये संसार सागर से पाप हो है ये वेद के समान अनादता में ये श्रीमद भागवत जो है ये संपूर्ण पुराणों में श्रेष्ठ है ये लोक हिताय व्यास कृत्वा ये लोक के हित के लिए व्यास जी ने बनाई और स्वपुत्रम सुखम अध्यापया बहुत और अपने जो पुत्र सुधरे जी हैं उनको पढ़ाया अभी तो आपने कथा सुनी कि सुखदेव जी तो विरक्त होकर के चले गए व्यास जी चिल्लाते ही रहे पुत्र पुत्र पीछे फिर करके भी नहीं देखा और अभी कहते हैं कि व्यास जी ने सुखदेव जी को ही पढ़ाया ये कैसी बात तो इसको इस, इस तरह से महात्मा लोग बताते हैं कि सुखदेव जी पहले तो विरक्त होकर के चले गए और फिर अपने पूर्ण समाहित होकर के उत्तराखंड में फिर जीवन मुक्ति का लाभ करके फिर मस्त होकर के घूमते थे तो एक दिन ऐसे ही समाधि में बैठे थे किसी जंगल में तो वहां व्यास जी के शिष्य सनिधा लेने के लिए गए तो उन्होंने सुखदेव जी को समाधि में बैठे हुए देखा उन्होंने विद्यार्थियों ने आकर के उन्होंने कहा महाराज मालूम होता है वो आपके पुत्र सुखदेव हैं रहे ध्यान में मस्त इस तरह से बैठा हुआ समाधि में हमने उनको देखा है अमुक अमुक जंगल में उनका दर्शन हुआ हम समझा लेने गए थे तब व्यास जी ने कहा अच्छा तो तुम जा करके उनको सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के विद्यार्थियों को कहा कि ये श्लोक जा करके उनके पास खड़े होकर के बोलना और जिनमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन था नवनीत्यते ब्रवक्षे हरिदम्बराय कुंजावतंस परिपिछलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेक्षाणवयं लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजा भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन जिन श्लोकों में था वो श्लोक उन अपने छात्रों को याद करा करके कहा कि इन श्लोकों को बोलो उनके पास खड़े हो तो दूसरे दिन विद्यार्थी गए तो सुखदेव जी की समाधि में बैठे थे वो बड़े अति अच्छी मधुर ध्वनि से उन श्लोकों को उन्होंने बोला बार बार बार बार तो नेत्र तो बंद किए हुए थे पर कानों के मार्ग से वो जो शब्द गए और सुखदेव जी ने उन शब्दों का अर्थ भगवान के दिव्य रूप का जो वर्णन सुना तो जट से जी उन्होंने आंखें खोली आंख खोली और देखा को तो विद्यार्थी करे और श्लोकों को बोल रहे उनको बड़ी रुचि हुई और उन्होंने कहा अरे ये श्लोक तुमने कहां से याद किए अरे कि ये तो हमारे गुरु जी ने ऐसी बड़ा भारी ग्रंथ ही है एक दो नहीं उसमें सहसों श्लोक ऐसे ये तो ग्रंथ ही ऐसा है तो अच्छा फिर चलो अपने गुरु जी के पास हमको ले चलो ग्रंथ को ही पढ़े तो सुखदेव जी उनके पीछे पीछे और वो छात्र आगे आगे और वहीं आ गए जहां से वो विरक्त होकर ही गए अरे बोलते तो हमारा ही आश्रम है तो हमारे ही पिताजी हैं तो फिर वहीं आ गए और भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के और फिर व्यास जी से उन्होंने श्रीमद भागवत का अध्ययन किया इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि और सौनक जी कहते हैं कि महाराज ये व्यास जी ने इस पुराण का निर्माण किस समय किया था और किस उद्देश्य से और किसकी प्रेरणा से और सुखदेव जी तो इतने विरक्त होकर के भी फिर कैसे अध्ययन किया ये तो बात बताई थी तो कहते हैं सूत जी कहते हैं कि ऋषियों एक बार व्यास जी वो अपने आश्रम में बैठे हुए सूर्योदय के समय उन्होंने देखा कि प्रजा की शक्ति का ह्रास हो गया अब मनुष्य में धैर्य नहीं रहा ये इनकी आयु भी बहुत स्वल्प है इनकी बुद्धि भी मंद है ये ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके संसार के का हित कैसे हो ये चिंतन कर ले और उन्होंने ये चिंतन करते करते और यज्ञ की परंपरा चलती रहे इसलिए एक वेद के चार विभाग थे इससे मालूम होता है पहले चार नाम नहीं थे वेदों के यजु साम ऋत ऐसे नहीं थे सब मिले जुले सब मंत्र थे तो उन्होंने व्यास जी ने जो मंत्र गा करके बोले जा सकते हैं उनको अलग किया उनको शाम विभाग दिया जो कर्म कांड है उनको यजुर्वेद ऋग्वेद तो व्यास जी ने एक वेद के चार विभाग किए ऋग यजु शाम अथर चत्वारो वेदा इतिहास पुराणम च पंचमो वेदा ये इतिहास पुराण ये पांचवा वेद मान गया ऋग्वेद को धारण करने वाले पैल मुनि हुए व्यास जी का पैल मुनि से कि भाई एक वेद तुम धारण करो स्मरण करो याद रखो और शाम के सामवेद जी हुए जैनी और यजुर्वेदी थे वही संपायन आथर्वण सुमंतु था और सूत जी कहते हैं इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हुए हमारे पिता ब्रह्म तो ये चार महा ऋषियों को चार वेद दे दिए ना जब फिर एक एक वेद को धारण करने वाले भी बुद्धि जब नहीं रही प्राणियों में तब फिर एक वेद की फिर अनेक शाखाएं उन्होंने बनाई वेदम अनेक अधा विभक्त का शिष्या भी दे देना ते वेदा शाखावन को अवन किसी को कोई शाखा दे तो ये इसीलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं हमारी माँ तिंदिनी शाखा है हमारी अमुक शाखा है ब्राह्मणों को कहते हैं कि क्यों जिस जो शाखा जिस परिवार में जिस कुल में थी वो उसी शाखा को अपनी बना मानता रहा तो ये शाखा को याद रखना इसका रक्षा करना हमारा धर्म है और जो श्रुति युद्ध का वेदों वेद का जो अधिकारी लोग नहीं थे स्त्री सूत्र आदि तो उनके लिए जो है व्यास जी ने महाभारत बनाया और इसके अनंतर तो अभी व्यास जी का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ जैसी प्रसन्नता होनी चाहिए वैसी प्रसन्नता मन में नहीं आई उनके तो एक दिन बैठे हुए सोच रहे थे मया वेदा गुरवो अग्नयश्च पूजिता हमने वेदों को पढ़ा है गुरुओं की उपासना की है अग्नियों का पूजन किया है फिर हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं कारण क्या है इस तरह विचार कर रहे थे तो उसी समय नारद जी वहां आ गए नारद जी आए तो उन्हें देख करके ब्यास जी खड़े हो गए प्रणाम किया पूजन किया जब नारद जी बैठ गए नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपका चित्र प्रसन्न है ना आपको जो कुछ जानना चाहिए वो तो आपने आप जान चुके क्योंकि आपके महाभारत को देख करके ये मालूम होता है कि आपको सब प्रकार का ज्ञान है सर्वार्थ परिपूर्णम भारतम चित्रतम महाभारत में ऐसी कौन वस्तु है कि जिसका वर्णन नहीं मिलता जिसे महाभारत को देख करके मालूम होता है कि आपका ज्ञान कितना विशिष्ट है और जो नित्य ब्रह्म है वो ब्रह्म का आपने विचार किया है आत्म रूप से उन्होंने आपने उसको प्राप्त भी किया है फिर आप क्यों सोच करते हैं व्यास जी बोले नारद जी आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है त्वयोत्तम तो सर्वम की तो भी मैं अपने असंतोष का कारण मैं नहीं जानता क्या कारण आप भगवान के परम भक्त हैं त्रिलोकी में आप सूर्य के समान भ्रमण करते हैं आप कृपा करके मेरी न्यूनता को आप बताइए नारद जी बोले हे व्यास जी आप में केवल इतनी न्यूनता है इतनी कमी है कि आपने जैसे अर्थ काम और धर्म आदि का वर्णन किया है महाभारत में ऐसे भगवान के यश का वर्णन नहीं किया भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया इसलिए आपके चित्त में वो शांति नहीं है इसलिए आप ऐसा कोई कृत बनाओ जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए अतो हे महाभाव तुम यथार्थ से तुम्हारी जो बुद्धि है वो मेधा वाली है यथार्थ बुद्धि है तुम प्राणियों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवत लीलाम चित्ता चित्त चित्त काव्य का वर्ण है अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करके और भगवान की लीलाओं का वर्णन आप कीजिए ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो भगवान की महिमा का वर्णन हो भगवान के स्वरूप का वर्णन हो जिससे प्राणियों की मुक्ति हो अतएव निपुणासन भक्त्यर्थमेव यते तो विषय स्वतंत्र दुख प्राणी को भगवान की भक्ति के लिए यत्न करना चाहिए संसार का है सुख जो है वैश्विक सुख तो हरेक योनि में मिल जाते हैं अतः प्राधान्य ने भगवत लीला में वर्ण है ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवत लीलाओं का वर्णन प्रधान रूप से हो मुख्य रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ स्वयं नारद जी कहते हैं कि देखो हम अपने पहली जन्म की बात हम स्वयं बताते हैं नारद जी कहते हैं कि देखो पहले हम एक दासी पुत्र थे और हमारी माता एक ब्राह्मणों के यहां चौका वासन करती थी वेद पाठी लोग ब्राह्मण थे कर्मकांडी लोग तो उन उस गांव में एक बार महात्मा लोग आ गए तो और ब्राह्मणों से कहा करे हम चातुर्मास करना चाहते हैं आप लोग क्या हमारी सेवा शुश्रूषा कर सकते हो तो ब्राह्मणों का गांव था ब्राह्मणों ने सबने आपस में विचार करके कहा एक और कहा सब एक होकर के सम्मति करके एक होकर के ब्राह्मण ने कहा महाराज हम आपकी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे आप लोग यही चातुर्मास की तो महात्मा लोग यहां चातुर्मास करने लगे और कहते हैं कि हमारी माता ने हमको महात्माओं के पास बैठा दिया तो बेटा तुम यहीं बैठे रहा करो जो महात्मा लोग जो कथा यात्रा कहें वो सुनते रहो और जो आज्ञा दें इनका उन, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहा करो तो कहते हैं वो महात्मा लोग अपनी भगवत चर्चा करते रहते थे साधन करते रहते थे कथा होती रहती थी मैं वहां चुपचाप बैठा रहता था चक्रु प्रकाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे भाषणी मैं बहुत कम बोलता था चपल बचपन की चपलता को छोड़ करके शांत होकर के बैठा रहता जब महात्माओं ने देखा ये तो कोई अधिकारी बालक है तो धीरे धीरे मेरे ऊपर कृपा करने लगे जब वो भोजन कर लेते थे तो उनकी आज्ञा पाकर के उनकी पत्तल में जो जूटन बच रहता था मैं कहता महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं से खाए लू तो वो कह देते खाए तो इसलिए सकृत न भूंजे तदपास तकिल विषा बस उसको जो मैं खा लेता था उससे मेरे जो किलविश पाप थे वो भी नष्ट हुए और भगवान के चरणों में प्रीति का उदय हुआ वो महात्मा लोग जो हैं भगवत चर्चा करते रहते थे तो उनकी कृपा से मम कृष्ण भक्ति मतिष्ठ जा तो उनकी कथा सुनते सुनते उनकी कृपा से भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो गई उससे वो बुद्धि हमको प्राप्त हो गई कि हम ये समझने लगे कि प्रपंचातीत जो मेरा ये स्वरूप है उसमें ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर माया से कल्पित है बोलो ये महात्माओं के संग से ही सत्संग का ये फल हुआ अभी बालक पढ़ा नहीं है लिखा नहीं है छोटी अवस्था है पर उन संतों की कृपा से ये हुआ नाराज जी कहते हैं कि वो बुद्धि हमको प्राप्त हो गई कि जो वास्तव में जो सब साधनों का फल मानी जाती है हमको ये प्रतीत होने लगा जो प्रपंचातीत जो मेरा स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप जो मेरा आत्मा है इसमें ये स्थूल और सूक्ष्म जो संसार है ये माया से दिखाई दे रहा है वास्तविक नहीं चतुर्नाश करने के बाद जब महात्मा लोग वहां से जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर गया कि महाराज अब आप लोग जा रहे हैं हाँ बेटा तो हम जा रहे हैं हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया तो महाराज मेरे ऊपर और कृपा कीजिए तो मुझे मेरी श्रद्धा देख करके उन्होंने मम भगवत भगवदोत्तम गुह्यम ज्ञानन कृपया समुपादिष्ट बनता है और कृपा करके फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान का उपदेश वो मेरे लिए करता और महात्मा लोग उपदेश करके चले गए फिर मैंने भगवान की माया के स्वरूप को जाना मायानुभावम वेदा हम कहते हैं इस तरह से नारद जी के ये कथा सुन के व्यास जी ने पूछा तब फिर आगे नारद जी और भी तो सुनाओ फिर आगे आपने क्या किया जब महात्मा लोग चले गए आपको जो है आत्मज्ञान का उपदेश करके फिर आपने फिर जो आपने अपनी अवस्था जीवन कैसे व्यतीत किया वृक्षसु दूरंगते सस्तु तुम बालका सन किमकाश तुम तो बच्चे थे महात्माओं के चले जाने